साढ़े चार क्रिया जब जागृत है हाँ। उस समय भी मैं शब्द इस्तेमाल करता हूँ मैं आ? हाँ। इस वक्त भी मैं इस शब्द इस्तेमाल करता हूँ मैं आ? हाँ। तो ये मैं कौन बोल रहा है शरीर शरीर मान करके मैं कहा जाता पर ये मैं की संज्ञा कौन है मेरा शरीर जैसे मैं बोलता हूँ मेरा विचार ज्ञान होने से होता है न वही बात शुरुआत हम्म। चार क्रिया की जिक्र किया अपना शुरू किया जी बाबा यही सब बातें अपना स्पष्ट रूप में रहने का प्रमाण है ठीक बात हाँ उसको अच्छी तरह से समझना जी बाबा साढ़े चार क्रिया में हम जो कुछ भी मैं कहता हूँ शरीर को मैं कहता हूँ बाबा अनुभव मूलक को इसी से करते हैं हम्म। तब मैं कहता हूँ तब तो शुद्धता जीवन एक होता है और दूसरा कुछ होता है उसमें भी अनुभव ही होता है उसमें भी आत्मा ही होता है ठीक ऐसा बात पर देखा अनुभव दर्शन में पूरा तो हाँ, बाबा वो ठीक अभी की मेरी जो स्थिति है हम्म। अभी मैं ये नहीं बोल सकता मेरे को अनुभव हुआ मैं ये नहीं बोल सकता मैं सिर्फ साढ़े चार क्रिया में चल रहा हूँ कहीं बीच वही तो अभी अध्ययन करने की जगह में है ऐसा हाँ। होता है अध्ययन की स्थिति में जी अध्ययन करने के समय में यही बोल रहा है हम्म। हम अनुभव के लिए अध्ययन कर रहे हैं तो अनुभव की के लिए अध्ययन करने की स्थिति में जब मैं मैं बोलता हूँ ये कौन सी क्रिया है वही तो बस कर रहा हूँ ना अभी वो भी वो भी इसमें स्मृति में रहती है हम्म। ये भी हरिहर हरिहर हरिहर हरिहर विराज विराज ऊपर आई हाँ, ठीक है अभी दस क्रिया की बात में भी आपको भाषण हम्म। शरीर जीवन है ऐसा जो पहले करते रहे वो भी याद में रहता है हम्म। इन दोनों जोड़ करके आप मैं कहते हो हम्म। ऐसे तो बात है हम्म। पूरा हो गया बाबा जीवन अभी जीवन की किस क्रिया के अंदर ये हो रहा है ये प्रक्रिया वही जीवन क्रिया को अच्छी तरह से जीवन ही समझेगा ठीक शरीर से समझने के लिए जब तक प्रयत्न करते हैं हम्म। वो विफल रहते हैं हम्म। समय लगती है हम्म। तो जीवन को जीवन समझता है उसके लिए फार्मूला लिखा है मन को मन को समझने वाला विचार वृत्ति वृत्ति को समझने वाला चित्त चित्त को समझने वाला बुद्धि है बुद्धि को समझने वाला वह आत्मा ऐसा समझने की बात मन जो है ना शरीर को समझने वाला ऐसा पूरा हो गया और उसका उसका उसका जो है ना अनुभव करने वाली जो बात आती ठीक है ना क्या सुना सुन ले बाबा अनुभव पहले, पहले क्या बात था मन को समझने वाला वृत्ति हाँ। वृत्ति को समझने वाला चित्त चित्त को समझने वाला बुद्धि हाँ। बुद्धि को समझने वाली आत्मा समझने वाला ही मूल्यांकन करता है ठीक ये तो मूल्यांकन में जी ठीक तो मन मन जो है न शरीर का मूल्यांकन करता है ये पहले ध्यान का मूल वस्तु उसके बाद जो है ना तो इसके बारे में आता है अनुभव करने की बात तो मन जो है ना वृत्ति में वृत्ति में अनुभूत होता है वृत्ति चित्त में चित्त बुद्धि में बुद्धि आत्मा में आत्मा चित्त में अनुभव ऐसा बात बना है अनुभव मूलक विधि वहां से शुरू हुई अर्थास्तित्व से और इससे शरीर मूलक विधि से भ्रमित अवस्था में मानव का कार्यक्रम है ठीक हो गए बहुत बढ़िया बात सार बात का है सार बात को नहीं कहा प्रश्न हो गई बात तो ये तुम्हारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर हाँ? उसका एक बार कर हाँ। ये दस्क्रिय अनुभव मूलक विधि से प्रकट होगा हाँ। शरीर मूलक विधि से साढ़े चार क्रिया प्रकट होगा तो इस वक्त जब मैं मैं बोलता हूँ अब जब विचार के स्तर पे मैं बोल रहा हूँ तब चित्त के आधार पे मैं बोलता हूँ बता तो दिया ना भाई वही मैं स्पष्ट कर हाँ, समझने वालों के लिए आत्मा हो जाता है जीवन हो जाता है ठीक, ठीक। और जो भ्रमित आदमी के लिए मैं जो है ना शरीर है शरीर अब आपके सामने तो सभी तो जागृत आदमी रहेगा ना तो भ्रमित आदमी रहेगा जागृत आदमी भी रहेगा जागृत आदमी के लिए आपका मई का जो आपका प्रयोजन निकलता है हम्म। जीवन की वो रहे है हम्म। और भ्रमित आदमी के लिए शरीर को रहे है ये दोनों जा रहा है ठीक बात बाबा बढ़िया बहुत सुंदर बात बाबा ये तो हम सब भोग के चले हैं ना भाई हाँ। सामान्य बात बढ़िया बात है हाँ ये पूरा हो गया बहुत सुंदर बात इसमें इसमें कोई भी शंका है नहीं, आराम से होने वाले का प्रकट होना हाँ। अपने को जीवन अनुभव को प्रकट करना है हाँ। तो दसों है प्रकट होना ठीक है वही स्वयं पर विश्वास करने का आधार बनता है हम्म। ठीक है ठीक तो विश्वास करने के आधार पर हमारा अच्छे ढंग से जीना बनता है बनते अच्छे ढंग से जीना बनता है तो हमारा जैसा अनेक होने वाली संभावना बनता है इसी आधार पर तो इसको रखा ही तो जितने भी गलतियां अभी तक समावेश हुई मानव परंपरा में हम्म। विरोध के साथ ही हुआ है हम्म। हम्म। ठीक बात है विरोध न हो ऐसा गलती मानव परंपरा में समाया नहीं सबका विरोध हो उसका जो प्रमाण है बॉर्डर सिक्योरिटी है ठीक बात है हम जो कुछ भी करना चाहते हैं उसका विरोध सामने रखा ही रखा ही